आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्ग पाँच एसएव रजो युक्त ब्रह्मा बुद्धिस्वभावन सत्वाभीष्टस्तथा विष्णु ते जगत प्रतिपालक एतरुद्रस्तामसोन्ते जगत प्रलय कारणम एतमस्य पुरा भूत्वा भक्त वैवस्वत मनु नाव्याप्य लयस्यान्ते पालयामास राघव समुद्रमथने पूर्व मंदरे शीतल गते रजोगुण से युक्त होकर ये ही विश्व रचयिता ब्रह्मा जी हुए हैं और सत्वगुण विशिष्ट होने पर ही ये ही त्रिलोक रक्षक भगवान विष्णु होते हैं तथा कल्पांत में तमोगुण का आश्रय कर यही जगत का प्रलय करने वाले रुद्र होते हैं पूर्व काल में इन्हीं रघुनाथ जी ने मत्स्य रूप होकर अपने भक्त वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर प्रलय काल के समय उनकी रक्षा की थी समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पाताल लोक को जाने लगा आधारयस्तपृष्ठे द्रिं कुर्मरूपी रघुत्तम महीरसातलं जाता प्रलयेषु करो भवत तोलयामास दष्टाग्रे तां क्षोणिं रघुनन्दनः नारसिंहं वपु कृत्वा प्रहलाद वरद पुरा तब इन्हीं रघुनाथ जी ने कुर्म रूप होकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया था प्रलय काल में जब पृथ्वी रसातल को चली गई तो ये सूकर रूप हुए और उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया इसी प्रकार एक बार प्रहलाद को वर देने के लिए इन्होंने नृसिंह रूप धारण किया त्रैलोक्य कंटकम रक्ष पाठयामास तन्नखैः पुत्रराज्यं हृत दृष्ट्वाचित पुरा वामन उपागम्य याञ्चया चाहरत् पुनः दुष्टशत्रीभूभार निवृत्त्यै भार्गवो भवत और तीनों लोकों के कंठक रूप दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को अपने नखों से फाड़ डाला एक बार अपने पुत्र इंद्र का राज्य गया हुआ देख जब अदिति ने इनसे प्रार्थना की तब इन्होंने द्वामन रूप धारण कर याचना करके उसे फिर लौटा दिया इन्होंने पृथ्वी के भार रूप दुष्ट क्षत्रिगणों को नष्ट करने के लिए भृगुपुत्र परशुराम का रूप धारण किया था स एव जगताम नाथ इदानीम गतः रावणादीन रक्षांसी कोटिशो निहनिष्यति बालसेनैव मरणं तस्य दृष्टं दुरात्मनः राज्ञा दशरथेनापि तपसा राधितो हरिः यही जगत प्रभु इस समय राम रूप से प्रकट हुए हैं अब ये रावण आदि करोड़ों राक्षसों का वध करेंगे उस दुरात्मा की मृत्यु मनुष्य के हाथ ही बदी है महाराज दशरथ ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की इसीलिए आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लें पुत्रत्वाकांक्षया विष्णु तदा पुत्रो भवद्धरि स एव विष्णु श्रीरामो रावणादिवधायहि गन्ताद्यैव वनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान् हरिर्माया सृष्टिस्थ्यन्तकारिणे वे विष्णु भगवान ही श्री रामचंद्र जी हैं अब ये रावण के वध के लिए आज ही लक्ष्मण सहित वन को जाएंगे ये सीता जी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय करने वाली साक्षात भगवान की माया है राजा वा कही कही वापी नात्र कारण मंडपी द्रिवेदु नारद प्राह भूभार हरणाय इनके वनगमन में राजा या कई कई अणुमात्र भी कारण नहीं है कल ही इनसे नारद जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी